ज्ञान अधर्म कुसंस्कारों से मैं बचता ईश्वर से संबंध तोड़े पर नहीं बच पाऊंगा कितनी प्राप्ति होती विद्या की आनंद की बल्कि ईश्वर से वो ये नहीं अनुभव करता इसलिए वो संबंध तोड़े रखता ये जो ईश्वर को नहीं मानते उपासना नहीं करते इन बातों को नहीं समझते कितने पढ़े लिखे हों भौतिक वैज्ञानिक हों वेदादि के पढ़े लिखे क्यों नहीं हो उनमें वो विशेषता आएंगी ही नहीं जो ईश्वर से संबद्ध रहने पर आती है कभी नहीं आएंगे वो दोष हटेंगे ही नहीं जो ईश्वर के साथ जुड़े रहने से हटते हैं दोष जो के तो बने रहेंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे यदि शब्दार्थ संबंध की विद्या बढ़ती है और ईश्वर से संबंध नहीं है तो अभिमान बढ़ता चला जाएगा इनको कोई नहीं रोक सकता भौतिक विज्ञान बढ़ता है वो तुझको ठीक भौतिक वैज्ञानिक बन गया ईश्वर से का संबंध नहीं है विषय वासना उसकी जो की तो बनी रहेगी बल्कि तीव्र हो जाएगी वो नहीं जीत सकेगा मन इंद्रियों को मन इंद्रियों को रोक ही नहीं सकेगा आपको ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं ये बताओ कम से कम बुद्धि में पहले आनी चाहिए बात समझ में समझ में ही नहीं आए तो अगली बातें नहीं चलती क्योंकि इनका सोचने का ढंग बताने का ढंग सिखाने का ढंग संसार में तो कम प्राय देखने को मिलता नहीं है प्राय नहीं सिखाते लोग इस ढंग से कौन प्रशिक्षण देता है इस ढंग से कौन सोचता है इसी इतनी गहराई में कौन जाता है निष्काम पर इतना जोर कब देता है व्यक्ति वो ईश्वर को मुख्य कौन समझता है इसलिए परंपरा ही नहीं है हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे आबद्ध रहेंगे तो ये ये उपलब्धियां होंगी नहीं जुड़े रहेंगे तो ये हानियां होंगी ये बताने वाला व्यक्ति जानता नहीं अनुभव कोई करता नहीं और सुनने वाले भी कौन सुनना चाहता है उब जाएंगे सुनेंगे ही नहीं सुन लिया तो उठते ही वो भूल जाएंगे और आपको इतना सिखाएंगे इतना बताएंगे और फिर भी आप वही खाली के खाली रह जाएंगे ध्यान नहीं देंगे तो वहीं खाली के खाली कोई कोई अंतर नहीं आएगा जब कभी दिमाग उल्टा होगा विचार उल्टे होंगे और क्रोध आ जाएगा तो आपको कितना ही उपदेश कोई देगा तो आप रुकेंगे ही नहीं क्रोध को ऐसा ही करते चले जाएंगे ऐसा देखेंगे ये व्यक्ति वही है और है या नहीं होता सब भूल जाता परिश्रम करने वाला व्यक्ति क्या करता है ऊंचा स्तर प्राप्त कर लेता कभी ढीलापन आ जाए स्तर गिर जाए तो अपने आप को संभालता है संभल जाता है अब ये प्रशिक्षण ये रीति पद्धति आप सीख लो सफलता मिलेगी यदि आप इस सारी पद्धति को इस सारी विद्या को सीख करके समझ के यदि व्यवहार में नहीं लाते तो सफलता जो आप चाहते हैं हम सब चाहते हैं सारे दुखों से छूट जाना नित्यानंद की प्राप्ति हो जाना ये नहीं होगा कभी कभी तो आपको संशय हो जाता होगा समस्त दुखों से छूट जाता हो व्यक्ति और नित्यानंद मिलता हो यह सत प्रतिशत सत्य है या नहीं इसमें संदेह होता है नहीं बताओ अपना अपना हाँ जी बोलो नहीं संदेह नहीं ये अब संदेह का पता ही नहीं चलता हाँ जी संदेह ऐसा लगता है कि संदेह नहीं लगता है हाँ जी रणवीर जी सिद्धांत रूप में तो मतलब संदेह नहीं है व्यवहार में आता होगा व्यवहार में ऐसा हाँ जी विशाल जी संदेह नहीं है हाँ संशय के दो स्तर होते हैं शब्दार्थ संबंध की दृष्टि से व्यक्ति संदेह रहित हो गया पर अनुभवात्मक जो ज्ञान है ना हमारा अनुभूति जो होती है उसमें संशय हो जाता है इस अंतर को देखो अनुभूति में संशय होता है होता है ना हाँ नहीं हमने ये पढ़ा सुना इंद्रियों का सुख क्षणिक है उसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित है वो शब्दार संबंध से हमको समझ में आ गई बात समझ गए हम चार प्रकार का दुख परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख मिला हुआ अच्छा वो मन में जिसको कहते हैं मन नहीं मानता बोलते हैं ना लोग क्या बोलते हैं मन नहीं मानता वो मन में नहीं बैठती वो बात होता है ना कई बार सिद्धांत रूप में परमाणु से सिद्ध हो गया है परिणाम दुख है ताप दुख है और वो मन में दिखता है नींद वो सुख है ऐसा देख सकते हैं आप या होता है नहीं होता बोलो ध्रुव जी हाँ तो ये पता चल गया ना होता है मन में जो ज्ञान है बुद्धि में जो अंदर सोचते हैं ना उसमें सुख ही दिखता है दिखता है नहीं क्यों जी बोलो दिखता है ना हाँ दिखता नहीं दिखता हाँ दिखता है अब वो जो सुख दिखता है उसको उखाड़ना उखाड़ के फेंकना और उसके स्थान पर जो संशय है उसको हटा के निर्णयात्मक ज्ञान को बनाए बनाना नहीं उसको फिर करते रहेंगे लंबे काल तक करते करते करते करते परिणाम ये निकलेगा आपका ज्ञान भी ऐसा ही मानने लगेगा या ये कहिए ज्ञान से आप ऐसा मानने लगेंगे कहा इनमें दुख है लंबा काल लगेगा चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते ये मंथन चलता रहता उतार चढ़ाव चलते रहते और व्यक्ति अपने अज्ञान को उल्टी विचारधाराओं को रोकता रहता है उखाड़ता रहता है अच्छी विचारधाराओं को लाता रहता है और ये वर्षों तक चलता रहता है तब वो संस्कार निर्बल हो जाते हैं बुरे संस्कार कमजोर हो जाते हैं ये संस्कार प्रबल हो जाते हैं तो फिर वो इस स्थिति को चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते बनाए रखने की स्थिति में आ जाता और ये भी ध्यान रखना चाहिए अब बनाए रखता है वो जन पर कल्पना कर बनाए रखता है और यदि वह सावधान हो जाए तो <laughs> और क्या समझे वही व्यक्ति दिन भर बनाए रखता है इस स्थिति को उसको विषय भोगों में दुख ही दिखाई देता है ईश्वर उपासना में सुख ही दिखाई देता है और इस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति यदि थोड़ा सा सावधान हो जाए तो फिर क्या होगा बोलो है सकता है हाँ तो योग दर्शनकार ने क्या संकेत दिया स्थानीय उपनिमंत्रण संग समया अकरणम पुनर्निष्ट प्रसंगात क्या समझे आप जब जब ये स्थिति आती है हमारे सामने तब तक व्यक्ति यदि थोड़ा सा असावधान होता है तो उसका स्तर गिर जाता है उसका यह अभिप्राय नहीं ले लेना चाहिए एकदम कि वो एकदम नीचे स्तर पर चला जाता है सब जगह ये लागू नहीं होता यहाँ जहां योग की स्थिति है वहां ये अंश प्रधान है उसका स्तर कुछ नीचे गिर जाता है क्या समझ में आया नहीं यार समझ में दोहराओ तो उसका स्तर वैराग्य का जो स्तर है जितना ऊंचा वो नीचे आ गिरता है उसका जो स्तर था ऐसा ऊंचे ऊपर उठने वाला उसमें कुछ ढीलापन आ जाता है और वो फिर सूक्ष्मता की स्थिति में कलेश कलेशों का अनुभव करने लगता है स्तर का गिरना ये मुख्य तात्पर्य है ऐसा मत मानना उसका समाधि वाले का स्तर इतना एकदम गिर जाता है वो उल्टे काम करना शुरू कर देता है ऐसा ऐसा नहीं समझना प्रधानता इस बात की है वहां उसका जो समाधि का स्तर वो ढीला होता है और वित्थान अवस्था आने से उसको क्लेश पीसते हैं फिर समाधि टूटती है तो आंतरिक क्लेश पीसने लग जाते हैं ये स्तर का गिरना अनिष्ट होता है ये अगली बात है कि कोई व्यक्ति इतना कच्चा हो और वो योग को ही छोड़ बैठे और वो फिर तो भाई गीता भी फैल सकती है तो आगे की बात है ये ये स्तर बहुत कच्चे व्यक्ति का और जो सावधान ही न रहे बिल्कुल असावधान हो जाए कच्चा स्तर है इसका अभी कोई विशेष अच्छी पक्की स्थिति नहीं आई नहीं तो मानसिक स्तर पर ये व्यक्ति का जो है स्तर गिरता है योगाभ्यासी व्यक्ति मानसिक स्तर पर यदि असावधान होता तो मानसिक स्तर गिरता रहता उसका क्या समझ में आया नहीं आया समझ में आप देखेंगे ना चलते फिरते खाते पीते लेते देते समय व्यक्ति यदि वह थोड़ा सा असावधान होता है तो मानसिक स्तर उसका वैराग्य के जो संस्कार है वैराग्य की स्थिति है विवेक की जो स्थिति है ना वो ढीली हो जाती है यदि वो फिर सावधान होता तो झट संभाल लेता है और थोड़ा सा असावधान होता तो और ढीली स्थिति होती होती और ढीली हो जाती है व्यवहार में और और बहुत अधिक करेगा तो और ढीली हो जाएगी ये स्थिति कितनी सूक्ष्म होती है इसके अंदर ढीलापन आना फिर उसको ऊंचा उठा देना कैसे व्यक्ति उसको रोकता है किन किन हेतुओं से रोकता है और व्यक्ति का स्तर अज्ञानता के कारण कुसंस्कारों के कारण जिसको वो अच्छा देखता था ठीक समझता था उसको बुरा देखने लग जाता है जिसको बुरा समझता था उसको अच्छा देखने लग जाता है इतना परिवर्तन हो जाएगा यदि लंबे काल तक असावधान हुआ तो व्यक्ति अब विराम सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं ब्रह्मचारी गण प्रत्येक व्यक्ति समस्त दुखों से छूटना चाहता है और नित्य आनंद की प्राप्ति करना चाहता है परंतु दुखों से कैसे छूटा जा सकता है दुखों को उत्पन्न करने वाले कारण क्या हैं उन कारणों को हटाया कैसे जा सकता है ये नहीं जानता प्रत्येक व्यक्ति नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहता है वह नित्य आनंद कहा मिलेगा ये नहीं जानता वह ये भी नहीं जानता कि नित्य आनंद प्राप्ति के साधन क्या है इन कारणों से व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है फिर से सुनिए समझिए प्रत्येक व्यक्ति समस्त दुखों से क्लेशों से बंधनों से पराधीनता से छूटना चाहता पूरा जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित है इतना होने पर भी वह दुख के स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है और दुख से वो छूटना चाहता है ये समस्या उसके सामने हाँ जी ब्रह्मचारी लोग आओगे क्या कहा व्यक्ति दुख के स्वरूप को नहीं नहीं वहां से छेड़ो व्यक्ति समस्त दुखों से छूटना चाहता है परंतु वो दुख के स्वरूप को नहीं जानता और दुख उत्पादक कारणों को भी नहीं जानता और प्रत्येक व्यक्ति दुख रहित नित्य सुख को प्राप्त करना चाहता है वह उस नित्य सुख के स्वरूप को नहीं जानता और नित्य सुख की प्राप्ति के जो साधन है उनको भी नहीं जानता तो आज संसार की दौड़ धूप इसी स्थिति में चल रही है पूरा भूगोल जन समुदाय इसी स्थिति में जो मैंने सुनाई लाखों में या करोड़ों में चलो कोई एकाध व्यक्ति मिलेगा जो इन बातों को जानता हो और उसका आचरण भी करता हो यद्यपि शब्दों से जानने वाले कुछ लोग मिल जाएंगे शब्दों से जानने वाले भी वैदिक धर्म में मिलेंगे और धर्मों में वो नहीं मिलेंगे और उन शब्दों से जानने वाले में आचरण वाला एक आध ढूंढने से मुश्किल से मिलेगा तो ये जितनी विश्व की दौड़ धूप है पूरा जीवन उसने समर्पित किया वो जिस लक्ष्य को पूरा करना चाहता है वो उसको पूरा न करके दुखों को ही इकट्ठा कर रहा है एक प्रकार उल्टा उल्टा चलो जो दुख है उसको सुख समझता है और जो सुख है उसको दुख समझता है नई नई समस्या इसके सामने जो सुख के साधन हैं उनको बाधक समझता है और जो सुख के बाधक हैं उनको वो साधन समझता है देखो थोड़ा थोड़ा दृष्टांत देंगे समझ में आएगा परस्पर प्रेम से रहना झगड़ा न करना और झगड़े करना तनाव उत्पन्न करना ये वो सोचता कैसे मैं झगड़ा करूंगा इसको दबाऊंगा इसी को डांट मारूंगा इसके ऊपर निकल जाएगा और मस्त हो जाऊंगा यदि प्रेम करूंगा प्यार करूंगा इसका उपकार करूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा ये दिमाग करता है इत, इतनी मोटी बात को तो समझते हो आप भी या नहीं समझते ये तो मोटी बात है कोई गंभीर दर्शन की बात नहीं अब एक मोटा दृष्टांत देता हूं घरों में आठ व्यक्ति हों किसी परिवार में संयुक्त परिवार आठ व्यक्ति हैं वो भोजन खाते हैं पीते हैं पात्रों को इकट्ठा ढेर लगा के रख देते हैं ठीक है तो सोचने का ढंग खाने पीने वालों ने पात्र तो डाल दिए जूठे कर करके अब एक व्यक्ति सोचता है ये सारे पात्रों को ये व्यक्ति मांझे और मैं हाथ न लगाऊ अब दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है इन पात्रों को ये मांझेगा मैं हाथ न लगाऊ क्या समझते हैं मैंने यदि इन पात्रों को मांझा तो बड़ा दुख है दुख की बात है और मैं दुखी हो जाऊंगा अब दूसरा भी ऐसा ही सोचता है और परिणाम क्या निकलता है दोनों में तनाव उत्पन्न होता है वो उसकी ओर देखो नहीं मान जाए पात्र क्यों घरों में से होता नहीं लगभग या नहीं होता वो ये सोचता ही ना पात्र क्यों नहीं माने अब भला इन लोगों को ये पता नहीं इन पात्रों के मांझने से सबके झूठे पात्रों को मांझने से मुझे सुख मिलेगा आपस में प्यार हो जाएगा और उसको देख करके दूसरा व्यक्ति भी बिना कहे वो उन पात्रों को मांझने लगेगा वो देखता है प्रतिदिन मांझता है मुझे भी तो कभी कभी मांझने चाहिए तो वो मांझता है उनको फिर और फिर यहां तक ये स्थिति बढ़ती है कि दूसरा दूसरे को रोकता है नहीं नहीं मैं मानूंगा आपने देखा नहीं यहाँ एक थाली आ गई ये कहता मैं मानूंगा थाली कहता नहीं मैं मानूंगा ऐसे थाली को छीनते हैं दूसरे के छीनते नहीं छीनते अब ये पूरा संसार का जन समुदाय इन्हीं उलझनों से उलझा हुआ समस्या ये है उलझावा होने पर भी अपने को उलझावा नहीं मानता ये और बात कोई कहे आप उलझ गए हो फंस गए हो कहता बेकार की बात करते हो आप मैं ठीक चल रहा हूं ठीक हूं मैं उलझा का हूं <laughs> उलझ है ही नहीं उलझने उलझन का है कई बार ऐसी घटनाओं को हम देखते रहते हैं बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर एक बकरी थी क्या थी बकरी और जो नीचे के लाइन के नीचे नीचे तार लगाए हुए होते हैं तार जा रहे हुए नीचे लाइन के साथ साथ नीचे के बाद वो बकरी आगे चलती चलती ऐसे सिर घिसाने लग गई जैसे घिसाती घिसाती उसमें फंस गई है अब वो जैसे फंसी थी ऐसे तो वो निकालती नहीं गर्दन को निकल सकती वो ऊपर को ऊपर को जो मारती है तो वो दूनी फंसती जाती है और मजबूत होती जाती है क्योंकि वो इसको ये पता नहीं मैं फंस कैसे गई थी अब ये जो संसार के लोग दुख में फंसे हुए हैं पर इनको ये पता नहीं हम दुख में फंस कैसे गए और इनको कोई समझाने लगे तो सुनेंगे नहीं घरों में सुख का कारण है पति पत्नी प्रेम से रहते हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं ये सुख का कारण है और जो रहना नहीं जानते वो झगड़ते रहते हैं पति पत्नी जब कोई व्यक्ति इनको समझाने लगे बैठ के बैठ जाओ आप आपस में झगड़ा न करो तनाव न किया करो इससे दुख होता है अब समझाने वाले को ये क्या कहते हैं देखो स्वामी जी घर में दो पात्र होते हैं तो कभी न कभी खड़कते ही हैं वो तो अब समझाने वाला क्या बताएगा इन्हें ये तो खड़कने को ही ठीक समझते हैं हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार भी रहते हैं मैंने कहा मूर्खों के रखे हुए पात्र खड़कते हैं बुद्धिमान ऐसे रखते हैं खड़कते ही नहीं अब क्या समझ में आया ये सोचते हैं स्वामी जी क्या उत्तर देंगे इनको ये पता नहीं आप जो बोलोगे इससे पहले हमको पता है का खंडन कैसे होगा क्यों <laughs> साधारण बातों को मैं छोड़ के वैज्ञानिकों की बात करता हूं जिसने आकाश पाताल को खोजा पिछले दिनों में एक समाचार पत्र में निकली बात कि एक ग्रह जो इस सूर्य का ग्रह नहीं है वो इसके पड़ोसी का ग्रह है और ऐसा उसमें था उसमें वायु भी है हवा है साथ प्रकाश भी बताया हो जो कुछ उसमें वो उन्होंने ये बतलाया वो यहां से इतनी दूरी पर है डेढ़ सौ बरस यदि प्रकाश गति प्रकाश चलता रहे तो इतने दिनों में यहाँ प्रकाश आएगा वहां का चला हुआ अब बताइए क्या कल्पना करोगे आप क्या समझ में दौड़ा तो लो एक सेकंड में प्रकाश की गति कितनी है तीन लाख कितनी है प्रति सेकंड प्रति सेकंड आ कितनी तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये पक्का पता है ना हाँ। चलो ठीक है इतनी गति सेकंड की है तो एक मिनट में कितनी होगी एक सौ अस्सी लाख और एक घंटे में कितनी होगी एक हजार अस्सी लाख और एक दिन में कितनी होगी और एक वर्ष में कितनी होगी और डेढ़ सौ वर्ष में कितनी होगी इतनी दूर दूर की खोज कर डाली इन लोगों ने पर इनको ये पता नहीं दुख क्या है और दुख का उत्पादक कारण क्या है इनको ये पता नहीं सुख क्या है और सुख का उत्पादन का इतने बेसमझ है अवस्था क्या है कलकत्ता जाने वाला व्यक्ति दिल्ली नगर से अमृतसर की गाड़ी में बैठता है बुद्धिमान कहता है आप कलकत्ता जाना चाहते थे क्या हाँ ये गाड़ी कलकत्ता की नहीं है ये अमृतसर जाएगी पाकिस्तान की सीमा के पास वह आप बेकार की बात करते हो मैं ठीक बैठा हूं जो कलकत्ता जाएगी इन वैज्ञानिकों की यही स्थिति है ये सुनेंगे नहीं उसकी बुद्धिमान की नहीं सुनेंगे ये हम ठीक सोचते हैं इसलिए ये अपनी और दूसरों की दुर्गति का कारण बन गए एक और तो सुख के साधन बढ़ते जा रहे हैं एक और संपत्ति बढ़ती जा रही है विज्ञान बढ़ता जा रहा एक और आचरणहीनता बढ़ती जा रही है अन्याय बढ़ता जा रहा प्रत्येक व्यक्ति दुखी है इतना दुखी है बस पूछो मत करोड़पति अरबपति दुखी और ये जो अस्त्र शस्त्र बनाने वाले वैज्ञानिक ये भी दिन रात बेचैन है कि लड़ाई होगी तो हम बचेंगे नहीं इन्होंने बना के रख दिए एटम बम और ये फलाने यदि युद्ध होता है इस रूप में तो हम बच जाएंगे आसानी की जा सकती ये डरते हैं ऐसे बनाए क्यों थे अरबों खरबों धन गरीबों को देते भोले कपड़ा देते चिकित्सा में उनके लगाते एक दूसरे को जीने का उपाय करते मारने का उपाय क्यों किया अब हम ये समझते हैं इनको समझाया जाए वैज्ञानिकों को बताया जाए कि सच्चा सुख कहां है और सुख के साधन कहां है ये ये मानते आप लोग मूर्ख हैं आपको आता जाता कुछ नहीं पुरानी बातें करते हैं ये एक सुनने के लिए तैयार कोई एकाध सुनने वाला मिल भी जाएगा तो सामूहिक रूप में प्रस्ताव के रूप में हमारी बात को ये मानेंगे नहीं आज तक भौतिक वैज्ञानिकों ने संविधान के क्षेत्र में संवैधानिक रूप में विधि विधान के अनुरूप ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है इतना इनका दिमाग खराब अब ये कैसे समझेंगे ईश्वर में नित्य सुख है ईश्वर में नित्य सुख है कैसे समझेंगे अब माताओं को ले लो कल्याण देव जी को इनको ले लो ये सारी ऐसे ही ये इनसे थोड़े से अच्छे हैं <laughs> वैज्ञानिकों से <laughs> क्यों वैज्ञानिकों से समझा तो कर लेते हैं और कुछ ईश्वर का नाम लेते हैं पर लेते हैं कुछ कुछ धन कमाने में भवन बनाने में घर को सजाने में जितना समय लगाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक दो घंटा भी नहीं लगाते ये ये आप लोगों की स्थिति है वैज्ञानिकों से तो आप अच्छे पर अच्छे लोग नहीं आप <laughs> कारण किस दृष्टि से दृष्टि ये है जो प्रमुख चीज है उसको गौण मानना और गौण को प्रमुख मानना ये भूल व्यक्ति से होती है और पढ़े लिखे भी करते हैं भाष्यकार भी करते हैं दर्शन के विद्वान भी करते हैं साधु सन्यासी लगभग इसी चपेट में आ जाते हैं व्यक्ति बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो मुख्य चीज को मुख्य माने और गौण चीज को गौण माने विद्यार्थी काल में पढ़ना आवश्यक है पर परमात्मा की प्राप्ति की दृष्टि से पढ़ना ईश्वर से मुख्य नहीं है दौड़ा लो ऐसे तो याद है होगा नहीं साहब विद्यार्थी काल में विद्या का पढ़ना आवश्यक है पर विद्या प्राप्ति करना और ईश्वर की प्राप्ति करने में ईश्वर मुख्य रहेगा तो दिमाग ठीक रहेगा आश्रम में जाता है व्यक्ति दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम मुख्य नहीं है ईश्वर प्राप्ति मुख्य है दोहराओ नानक चंद जी आज तो पिताजी को भी ले आए वो भी सुन लेंगे थोड़ी बहुत <laughs> आपको कहेंगे स्वामी जी को क्या पता गृहस्थ का है एक रोचक कथा सुनाऊ आप जानते हैं पंजाब हरियाणा के लोग कैसे अखड़ बोलते हैं और कैसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं एक घर में पति पत्नी का झगड़ा और मैं वहीं बैठा और आपस में झगड़ पड़े वाणी से वाणी से झगड़ा हो गया मैंने कहा देखो माता जी पति को ऐसा नहीं कहना चाहिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए वो रुकी तो पति आया टूट पड़ा अब शब्द बोलने मैं कहा देखो पत्नी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए ऐसे अच्छा नहीं है फिर माता जी बोलने लगी दोनों हरियाणा के थे तो उसको रोका फिर वो आया बोलने के लिए मैंने कहा देखो ऐसे मत करो ऐसे मत बोलो ओके स्वामी जी आपने कभी ग्रस्त में जाके देखा है अब मैं ग्रस्त में जाऊंगा इनकी तरह लड़ूंगा जो मुझे पता चलेगा रेल के सीधे टांग कटकी दूसरे की मैं टांग क्यों कटाऊं क्या समझ में आया टांग कट जाती है भाई पता चल गया टांग कट गई सिंह सिंगल टांग कटी हुई हमें दिख रही हम क्यों कटाए सारों की नहीं हम उनको इनमें नहीं ले रहे जो गृहस्थ समझ जाते हैं और ये मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम साधन है ईश्वर साध्य है ऐसा मानना चाहिए गृहस्थ आश्रम इसलिए किया जाता है वो ईश्वर की प्राप्ति हो सके इसलिए किया जाता अब गृहस्थी लोगों ने ये सोच ही नहीं देखा कि हम गृहस्थ में इसलिए आए थे कि ईश्वर प्राप्ति हो जाए ये कहेंगे वह धन कमाने के लिए खाने के लिए आए थे हम तो और खाते रहो कमाते रहो इसलिए ये दोष यहां आ गया न्याय से धन कमाओ उचित रूप में खाओ राष्ट्र की रक्षा भी करो पांच माए वो भी करो और ईश्वर प्राप्ति के लिए योगाभ्यास करते रहो यदि गृहस्थ आश्रम में वैराग्य हो जावे तो संन्यास लेने का विधान है बोल लो क्या कहा मैंने आज किसी का विवाह हुआ कल वैराग्य हो गया क्या उसको संन्यास ले लेना चाहिए माताएं बोलेंगी है अच्छा जो तो ले लेना मानती है हाथ खड़ा करो तो नहीं मानती अब इनको डर लगने लग गया ऐसा क्योंकि ऊपर से प्रभाव चल रहा है ना मतलब तो सावधान होकर बोलना प्रभाव में व्यक्ति सावधान हो जाता है वास्तव में संविधान यही है कि जिस दिन वैराग्य हो जावे उसी दिन ग्रहस्थ को छोड़ के संन्यास आश्रम में आ जाना चाहिए परंतु संन्यास आश्रम माने के नियम क्या है विद्वान होना चाहिए और उच्च कोटि का वैराग्यवान होना चाहिए पति पत्नी लड़के को संन्यास ले ले ऐसा नहीं है <laughs> क्या समझ में आया है जी इसका मतलब ये नहीं है विद्वान होना एक और वैराग्य मानो तुलनात्मक अध्ययन करो उसने आज से ग्रह छोड़ दिया वो विद्वान है वैराग्यवान या जीवन लक्ष्य की तरह वो समाज का जो भला करेगा राष्ट्र का भला करेगा ग्रह तुम रहेगा नहीं कर सकता इतना भला वो नहीं कर सकता इसलिए संविधान बनाया तो हम विचार कर रहे थे गृहस्थ आश्रम साधन है गौण है और ईश्वर साधे है फिर आए वानप्रस्थ कई लोग वानप्रस्थ में आज आ गए ना वो पढ़ते हैं ना लिखते हैं ना कोई और उपकार करते ऐसा मान लेते हैं ठीक है वानप्रस्थ बन गए सो बन गए अब क्या करना करना कराना कुछ नहीं वानप्रस्थ बन गए घर का काम से मिल गया है और अपने खाना पीना लेटे रहना रोए बस यहाँ उनको ये पता नहीं वानप्रस्थ आश्रम ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है फिर आया संन्यास आश्रम संन्यास शास्त्र में भी लगभग लोग आकर के वो संध्या करना छोड़ दे और योगाभ्यास छोड़ दिया भाई ठीक है ये हवन भी नहीं करते फिर सोचते हम तो संन्यासी बन गए हवन क्या करना है वो हवन भी नहीं करते अच्छा विद्या पढ़ो नहीं अब क्या विद्या पढ़नी है बुढ़ापे में वो वो वे सन्यासी बन गए तो यहां पर ये बात कही जा रही है ये आश्रम है ये हमारे साधन हैं और हम इन आश्रमों में अपने अपने आश्रम का कार्य आश्रम का काम करते हुए ईश्वर प्राप्ति को मुख्य मान के चलते तो संतुलन बना रहेगा लोक में यदि ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य नहीं है तो संतुलन बिगड़ेगा उसको कोई रोक नहीं सकता आज विद्यार्थी का जीवन जो बच्चे हैं बालक बालिकाएं हैं इतने भयंकर रूप में बिगड़ रहे हैं उनका कोई धर्म कर्म कोई शिष्टाचार कोई ईश्वर नाम की चीज और माता पिता घरों में बैठे वो नाच गाने देखते हैं उल्टे सीधे और पढ़ने लिखने में भी नकल करते हैं और झगड़े करके अपने अध्यापकों को छुरा मारते हैं तो ये स्थिति सारी की सारी बिगाड़ के रख दी और एक और तो उपायों की बात चल रही है उपाय करो संसार का भला करो सारे विदेश ऐसे सोचते हैं पर इनको ये पता नहीं संसार का भला होगा कैसे कोई पता नहीं आप यहाँ आए कुछ सुन रहे हो और सुन सकते हैं वेदों की विद्या उपनिषदों की विद्या दर्शनों की गंभीर विद्या लाखों करोड़ों ऋषियों की परंपरा में जो विद्या चलती चली आई वो यहाँ पर हम पढ़ते पढ़ाते हैं और सीखते सिखाते हैं करते करवाते हैं इसी का प्रचार प्रसार हम देश और विदेश तक करने का प्रयत्न करते हैं और हाँ, हम ये मानते हैं इससे बड़ा कार्य दुनिया में कोई नहीं है संसार के भले का पर ये याद रखे जैसे दूसरे मत वाले के पास में जन शक्ति है धन शक्ति है हमारे पास में जन शक्ति धन शक्ति नाम मात्र की है नहीं तो हम भी हजारों को तैयार कर देते हम यहां विद्यार्थी रखते हैं आज के लगभग पंद्रह के लगभग और इस पंद्रह का खर्चा करना और इनको पढ़ाना पूरा जोर लगाते हैं लोगों से प्रेरणा दे दे के सहयोग लेते हैं और यदि हम बीस रख लें तो पांच बढ़ा दें हम प्रबंध नहीं कर सकेंगे कर ही नहीं सकते इसलिए आप ये तो चाहते होंगे कभी कभी कि अधिक पढ़ाओ जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे जनशक्ति चाहिए प्रचारक चाहिए या धन इकट्ठा करने वाले चाहिए या धन देने वाले चाहिए और गुरु आचार्य चाहिए आचार्य कहा इतने एक योग्य व्यक्ति सदाचारी विद्वान बुद्धिमान उसमें भी दो विभाग बने हुए एक दृष्टि है व्यक्ति की निष्काम भावना से कुछ नहीं लेना जो कुछ दे दिया वो खा पी लिया एक दृष्टि है कि देखो इतना वेतन तो मुझे चाहिए आज का जो आचार्य पढ़ाएगा वो दस हजार पंद्रह हजार रूपये लगभग लेगा ये थोड़ी सी थोड़ी बात सुना रहा हूँ और वो छह घंटे काम करेगा या चार करेगा जाओ अवकाश हो जाएगा एक वर्ष में उसकी स्थिति तो इसलिए हम जिस स्तर पर काम कर रहे हैं ये सबसे बड़ा कार्य मानव निर्माण का सबसे बड़ा कार्य परंतु राजा का सहयोग विशेष नहीं है गृहस्थी अनेक गिने हैं जो सहयोग देते हैं थोड़े से ऐसे नहीं हमारे जैसे आपने सुना होगा महेश योगी के कितने सहयोगी हैं और और वो कितने आगे मैं कितनी बात कहूं इतना धन इतनी संपत्ति और आश्रमों में किसी में 500 किसी में कितने किसी में कितने अपने ढंग से वो पढ़ाते हैं इतने लोग तैयार होते इसलिए अब दूसरी बात सुन लो हमारी बातों का प्रचार टेलीविजन पर और आकाशवाणी आदि पर प्राय नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग है इतना धन चाहिए इतना खर्च करो तब जाके कोई विज्ञापन या कोई बात आएगी वो वो व्यवस्था हमारे पास में नहीं है हाँ हम इस बात को बता सके जैसे योग की बात ले लो दूसरों के योग के पूरे के पूरे कार्यक्रम आते रहते हैं और दिन प्रतिदिन चलते रहते हैं हमारा कोई कार्यक्रम रखेगा तो इतना धन चाहिए इतना जब हम धन देंगे तब जाके हमारा टेलीविजन पर कोई प्रवचन आएगा नहीं तो नहीं आ सकता इसे प्रचार उल्टे का होता है तो आप कम से कम इन बातों को जानना चाहें तो प्रयत्न करेंगे तो समझ में आएंगे देखो और कार्य हो ना हो अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है बह और चाहे कार्य कम हो ना हो कोई बात नहीं प्रमुख बात अपने जीवन में अपनी जितनी शक्ति है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना इतना व्यक्ति कर सकता यदि इतना भी करने की सोचने लग जाए तो इस कार्य को करने वाले की संख्या बढ़ेगी थोड़ी और वो फिर संगठित हो जाए कल्पना कर तो और शक्ति बढ़ जाएगी जब और शक्ति बढ़ जाएगी तो विपरीत कुरीतियां उल्टे विचारधाराएं उसको हटाने में समर्थ हो जाएंगे विचार ऐसे ही करना चाहिए अर्थात ऐसे नहीं मानना चाहिए कि हम थोड़े से हैं हमारी संख्या बहुत थोड़ी है हम कुछ विशेष नहीं कर सकते ऐसा नहीं मानना चाहिए कभी हमने ये देखना है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन मैं कितना कर सकता हूं बस पूरा जोर लगाओ ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का विस्तार है बड़ा भारी ईश्वर की आज्ञा पालन करने का यह अर्थ नहीं कि मैंने तो थोड़ा सा आचरण अपना ठीक कर लिया पड़ोसी बिगड़ रहा है अपने मित्र नहीं बनाए जा रहे हैं अपने साथी तैयार नहीं किए जा रहे हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन तो बहुत व्यापक है हम अपने जीवन को ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चलाते हुए अपने मित्र तैयार करेंगे साथी तैयार करेंगे फिर हमारा एक बड़ा भारी समुदाय हो जाएगा वो औरों को तैयार करता चला जाएगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे जिस समय अंग्रेजों का राज्य था उसमें इन्हीं गिने लोग इसका विरोध करते थे एक शीत दल वाले महात्मा गांधी एक गर्म दल वाले सुभाष जी थे दो दल थे गर्म दल और नरम दल दो दल थे उस समय नरम दल के महात्मा गांधी अपने ढंग से काम करते थे और गर्म दल के सुभाष चंद्रशेखर आदि अपने ढंग से करते थे मार काट का करते थे गर्म दल वाले अब इतने थोड़े थे और उस समय अंग्रेजों ने हजारों क्या पता नहीं कितने को तोड़ के गोले के सामने रख के उड़ा दिया और ऐसा ही होता रहता होता रहता था होता रहता था होता रहा होता रहा चलते रहे होता रहा धीरे धीरे चलते रहे मरते रहे चलते रहे मरते रहे एक समय ऐसा आया धीरे धीरे उनको काट के बाहर फेंक दिया ऐसा ही होता आप क्या सुनते हो कभी क्या कहते हैं ये मत कहो की जगह में क्या बोलते हैं हाँ जी आप बोल लो नींद नहीं आएगी क्या कहता कभी यह मत कहो कि जग में आपकी आवाज तो ऐसे जैसे ऐसे ऐसे जैसे जैसे मुक्का मार के बुलाई जा रही हो आवाज भी तो उत्साह की है ना यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला लाखों में वार करता एक सुरमा अकेला यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला लाखों में वार करता एक अकेला व्यक्ति के अंदर जिसको बोलते पढ़ा लिखा तेजस्वी होना जो बात बोलता है वो दूसरे के हृदय को पकड़ती है उसको प्रभावित करती है दूसरा व्यक्ति उसके व्यवहार को देखता है उसे प्रभावित होता है और फिर वैसा ही अनुकरण करता है और ये व्यक्ति क्या देखता है आज वो देर से उठा है पांच बजे मैं भी उठू तो क्या बात है उसने पांच बजे उठना शुरू कर दिया <laughs> वो, वो उल्टी चीजों की निकल करता है उल्टी चीजों की निकल करता है एक व्यक्ति ने दान देने लगे उसने पांच रुपए दिए ये करोड़पति बैठा वो कहना इसने कितने दिए इसने पांच दिए कोई मैं दस दे देता हूँ वैसे ठीक है अब भले व्यक्ति ये उस ओर सरकता है जिस ओर नहीं सरकना चाहिए ये आपको मानव जीवन का निर्माण अपना और समाज का कैसे होता है सोचने का ढंग बताया जा रहा है उसकी शैली है और उस शैली से चलने पर व्यक्ति सुखी होता है दुखी नहीं होता यदि उसको ठीक व्यवहार आता है तो उपकार करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता सुखी होता है उसको उपकार करना नहीं करने वाले को व्यवहार नहीं आता तो वो दुखी हो जाता क्या समझ में आया उपकार करने वाला अन्यों का उपकार करने वाला यदि व्यवहार को जानता है तो वो सुखी होता है और व्यवहार नहीं आता तो वो दुखी होता है परंतु ये न मानना कि अन्यों का उपकार करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है ऐसा नहीं है उपकार करना ये ईश्वर का आदेश है ईश्वर की आज्ञा का पालन स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं भाव सुनाता हूं जो व्यक्ति जितना जितना औरों का उपकार कर